चिंटू तुम्हें क्यों मार रहा है उसके यादाश्त गुम हो गई है हम्म, मैं जाके उसके सर पे दो डुलाटी मारूंगा और उसकी याद वापस आ जाएगी तुम दोनों यही रुको चिंटू चिंटू देखो कौन आया है बहनों देखो ये गधा यहाँ कैसे घुस आया ये और उसका मालिक हमें यहाँ से ले जाना चाहता है चलो उनको सबक सिखाते हैं ये मुझे घेर क्यों रही हैं? इनके इरादे खतरनाक लग रहे हैं वीर हे अपने ही दोस्त को पिटवा रहे हो बचाओ